जंगली हंस कुछ अरसा पहले एक बादशाह रहा करता था उसके ग्यारह बेटे और एक बेटी थी जिसका नाम एलिसा था बारह बच्चे इल्म और हुनर में बड़े जहीन थे ये तमाम बच्चे किले में एक साथ रह के एक खुशगवार जिंदगी गुजार रहे थे तभी बादशाह ने दूसरी शादी कर लेने का फैसला किया क्योंकि बीवी के इंतकाल के बाद वो अपने आप को तनहा महसूस कर रहा था महल में एक आलिशान तकरीब हुई सारे बच्चे नई माँ की आमद पर खुश थे उनका ख्याल था कि वो आके उन पर अपनी ममता लुटाएगी मगर उन्हें उसकी मुख्तलिफ तस्वीर मिली नई मलिका बच्चों के हक में एक फासिक जादुई फितना साबित हुई सारे बच्चे उससे मिलकर बड़े मायूस हुए मैं चाहती हूँ कि तुम सब काम करो तुम सब कामयाबी का नाम लेके उसने एलिजा को एक किसान और उसकी बीवी के साथ दूर एक जगह भेज दिया और ग्यारह शहजादों के खिलाफ उसने बादशाह के कान भर दिए इस पर बादशाह ने हुक्म जारी किया कि बच्चे किले को छोड़ दें और इसी बात का फायदा उठाते हुए मल्लिका ने बच्चों पर जादू कर दिया तुम सब अपनी जिंदगी आराम पस्ती में जाया करोगे जैसे बदसूरत खामोश परिंदा उड़ जाओ यहाँ ऐसी शहजादे दिल के बड़े मासूम थे इसलिए मलिका का जादू उन पे पूरी तरह असर नहीं किया जिससे वो बदनुमा परिंदे बनने के बजाय खूबसूरत हंस में तब्दील हो गए और उड़ते हुए किले के बाहर हो गए एलिजा वहाँ खुश नहीं थी जहाँ वो रह रही थी वो अपने भाइयों को बहुत याद कर रही थी जब वो पंद्रह साल की हो गई तो उसे किले में वापस आने और बादशाह से मिलने की इजाजत थी लेकिन मलिका नहीं चाहती थी कि बादशाह और शहजादी की रूबरू मुलाकात हो मल्लिका खूबसूरत जवान एलिजा को देखकर चल गई। वो मुझसे ज्यादा पुरकशिश नहीं हो सकती लेकिन वो बादशाह को अच्छी लग सकती है खुशामदीद अजीजा किले में तुम्हारी वापसी का इस्तकबाल है पहले मेरे ख्वाबगाह में चलो मेरे पास तुम्हारे लिए एक तोहफा है मुझे तुम्हारे चेहरे पर ये गाजा लगाने दो ये तुम्हें बुरी नजर से बचाएगा ये गाजा मलिका की एक चाल थी एलिजा को बदसूरत बनाने की जब बादशाह ने एलिजा को देखा तो सख्त बरहम हुआ उफ, ये बदसूरत लड़की मेरी दुख्तर नहीं हो सकती बाहर निकालो इसे मैं इसे देखना नहीं चाहता एलिजा को किले से बाहर निकाल कर फेंक दिया गया <laughs> मैं अपने भाइयों की जान थी जब वो मेरे साथ थे एलिजा अपने भाइयों की तलाश में अपना सफर शुरू करती है वो एक जंगल में पहुंची जहां उसे पानी का एक छोटा चश्मा मिला उससे उसने अपना चेहरा धोया तो वो हैरान रह गई वो वापस खूबसूरती में तब्दील हो गई थी वो एक घने जंगल में थी जहां सूरज की किरणें मुश्किल से जमीन पर गिरती थी ऊंचे और घने दरख्त उन्हें रोके रखते थे देखते ही देखते अंधेरा छाने लगा वो जंगल के आखिरी सिरे तक पहुंच गई उसके अतराफ में कोई नहीं था मगर वो चलती जा रही थी कुछ लम्हे बाद उसने कुछ कदमों की आहटें सुनी वो डर गई और कहीं छिपने की कोशिश करने लगी छिपने से कबल उसकी एक जयीफ खातून से मुलाकात हुई क्या तुम खौफ जदा हो हाँ, जरा सा मैं यहाँ गोंद लेने अक्सर आती हूँ क्या तुम इसमें से कुछ खाना चाहोगी हाँ मुझे जोर की भूख लगी है और मुझे नहीं मालूम कि जंगल में क्या खाने के लायक है इसे ले लो मगर तुम यहाँ क्या कर रही हो मैं ग्यारह शहजादों की तलाश में निकली हूँ क्या आपने उन्हें यहाँ देखा है नहीं मैंने नहीं देखा लेकिन मैंने कुछ हंस देखे हैं जिनके सरों पर ताज थे वो नदी में तैर रहे थे अगर तुम वहाँ जाओगी तो तुम उन्हें पा सकती हो एलिजा ने उस जईफा का शुक्रिया अदा किया और सफर शुरू किया और नदी के किनारे चलती रही कुछ घंटे चलने के बाद वो एक ऐसे मकाम पर आई जहाँ नदी बहरे मुत से मिल रही थी यहाँ तो कोई भी नहीं है मैं अपने भाइयों को कैसे हासिल करूंगी उसने साहिल के रेत पर हंसों के ग्यारह परों को पड़ा हुआ पाया ग्यारह है ये लगता है मैं अपने ग्यारह भाइयों को जल्द पालूंगी सूरज गुरूब होने लगा तभी उसने देखा कि ग्यारह खूबसूरत हंस आसमान में उड़ रहे हैं जो उसकी जानी आ रहे थे वो खड़ी उन्हें देख रही थी कि वो सारे उसके करीब आ उतरे और सूरज के गुरूब होते ही वो सारे शहजादों में तब्दील हो गए रात रान वाह आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ निकाला मैं एलिजा हूँ वो सारे एलिजा को देखकर बहुत खुश थे मल्लिका के तिलिस्मी फितने से हम हंस में तब्दील हो गए उस दिन से हम लोग जंगली हंस की तरह परवास भर रहे हैं लेकिन जैसे ही सूरज गुरूब होता है हम इंसान बन जाते हैं हमें एक साल बाद ही घर लौटने की इजाज़त है कल हम लोग किले के लिए कूच करेंगे क्या तुम भी साथ आओगी बिल्कुल आऊंगी मैं भी इस लानत भरी तकलीफों से निजात चाहती हूँ अगली सुबह शहजादे फिर से हंस में तब्दील हो गए उन्होंने एलिजा को एक जाली में बैठ जाने को कहा और अपनी चोचों के सहारे जाली को उठा के नए रास्ते पर चल पड़े एलिजा को इस सवारी से बड़ा मजा आ रहा था वो बादलों में अपने नीचे तैरते हुए देख रही थी उसने पहाड़ों को भी गुजरते देखा जंगल शहर गांव और महलों को भी अपने नीचे से गुजरते देखा दिन ढलने का वक्त आया तो वो कुछ गारों के दरमिया उतर गए और एक गार में रात गुजारने का फैसला किया रात में एलिजा जब नींद की गनूदगी में थी तो ख्वाब देखा कि एक परी उससे मिलने आई है एलिजा को लगा कि परी की शक्ल बिल्कुल उस जईफा की तरह है जो जंगल में उसे मिली थी आताब एलिजा मैं जानती हूँ कि तुम किस बात को लेके बेचैन हो भाइयों के लिए मैं अपने भाइयों को हर बला से पाक चाहती हूँ मगर अब नहीं जानती कि अब उनका क्या होगा उनकी बहबूदगी के लिए तुम क्या चाहती हो उनका तंदुरुस्त होना या बीमार रहना अगर तुम कर सकते हो तो करो मैं तुम्हें उसका इलाज बताऊंगी मैं अपने भाइयों के लिए कुछ भी कर सकती हूँ इलाज दर्द और तेज देने वाला है मैं हर दर्द बर्दाश्त करूँगी मेहरबानी करके मुझे बताएं एक खारदार दरख्त है जो इस गार के करीब संगीन आहते में फलता है तुम्हें उन्हें लाना होगा और उनको पीस के मोम बनाना होगा और उनसे ग्यारह कोट तैयार करने हैं और कोट को फेंक कर हंसों को ढांकना है तब उन पे किया गया शहर जायल होगा लेकिन एक बड़ी अहम बात तुम किसी से एक लफ्ज भी नहीं बोलोगी इस अमल के शुरू होने से मुकम्मल होने तक अगर तुमने जुबान खोली तो तुम्हारे भाई मर जाएंगे ठीक है मैं साबित कदम रहूंगी एलिजा गफलत में उठी तब उसे एहसास हुआ कि वो एक ख्वाब था फिर भी उसने तस्लीम किया भाइयों को देखा तो वो जा चुके थे ये सही वक्त है अपनी जिम्मेदारी शुरू करने का वो बाहर गई और खारदार पत्ते चुनने शुरू कर दिए जो चुभ रहे थे और टीस भी दे रहे थे लेकिन एलिजा उन्हें तोड़ती रही ये जाने बगैर कि कैसे एहतियात बरतते हैं उसने कुछ पत्ते हासिल किए और उन्हें कार में लेकर आई और उन्हें पीस कर मोम बनाया एक चूहा ये सब देख रहा था कि एलिजा क्या काम कर रही है उसे उसमें दिलचस्पी पैदा हुई और उसने उसकी मदद करना शुरू कर दिया रात को जब उसके भाई गार में वापस आए तो उन्होंने एलिजा को एक अजीब से काम में मसरूफ पाया तुम इस पर क्या कर रही हो एलिजा हमशीरा तुम जवाब क्यों नहीं दे रही खामोश क्यों हो मेहरबानी करके कुछ बताओ मैं समझता हूँ कि ये जो कुछ कर रही है उसे मुकम्मल किए बगैर कुछ कहना नहीं चाहती एक छोटा भाई एलिजा के पास गया उसके हाथ को खींच कर देखा तो उसमें छाले पड़े थे ये देख के उसकी आंखों में आंसू आ गए आंसुओं का एक जोड़ा एलिजा के हाथों में गिरा तो उसके सारे जख्म जाते रहे और उसका ख्वाब यकीन में बदल गया एलिजा कुछ दिन मुसलसल अपना काम करती रही और चूहा अपनी मर्जी से उसकी मदद करता रहा एलिजा ने एक कोट की तकमील कर ली और दूसरे की तैयारी शुरू की एक दिन जब वो खारदार पत्ते चुन रही थी तभी करीब से कुछ तेज आवाजें सुनी तो उसने घर वापस जाने का फैसला किया मगर कुछ कुत्ते और कुछ शिकारियों ने उसका रास्ता रोक लिया उस सब ने बड़े अच्छे लिबास पहन रखे थे एक खुबरू जवान घोड़े से नीचे उतरा और एलिजा से मुखातिब हुआ आदाब तुम यहाँ क्या कर रही हो क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ मैं जंगली इलाके में आपको तनहा नहीं छोड़ सकता मैं इस जमीन का मालिक हूँ तुम मेहरबानी करके मेरे साथ मेरे किले में चलो तुम वहाँ पर महफूज रहोगी एलिजा के पास सुल्तान के साथ जाने के सिवा कोई चारा नहीं था सूरज गुरूब होने से कबल वो लोग किले में पहुंच गए ये किला बड़ा आलिशान था मगर एलिजा वहाँ खुश नहीं थी वो अक्सर औकात रोती रहती और अपने भाइयों को याद करती रहती सुल्तान एलिजा के कोट और मोम उसे देने को आया जो उसने बनाए थे ये तुम्हारे क्याम गाह से दस्तयाब हुए ये तुम यहाँ भी कर सकती हो जो अपने घर में करती थी आहा क्या तबस्सुम है लगता है मैं आज अपना दिल हार जाऊंगा एलिजा अपना काम रोकना नहीं चाहती थी और मोम के कोट बनाती रही उसने दस कोट मुकम्मल कर लिए आखिरी एक कोट की तकमील के लिए वो कुछ और खारदार पत्ते लेने के लिए भागी तभी ख्याल आया संगीन आहता जाने के बजाय कि उन्हें यही किले से कुछ पत्ते ले लिए जाएं। लिहाजा रात को वो किले से बाहर आई और संगीन आहता ढूंढने लगी अभी उसने खारदार पत्ते तोड़े ही थे कि सुल्तान के मुशीर और उसके आदमियों ने उसे घेर लिया ओ तुम यहाँ तुम यहाँ क्या कर रही हो खारदार पत्ते तोड़े लेकिन क्यों ये किसी जादू टोने के लिए इस्तेमाल होता है मुझे शक है कि ये कोई जादूगरनी है और ये बात मैं साबित कर दूंगा अलीशा मेरा खुद एतमाद यकीन नहीं कर रहा फिर भी इसे ले जाकर अदालत में पेश करो काजी सुनेगा और फैसला करेगा और इसे सजा देगा ये जान ले सकती थी इसे तमाम अहले वतन के सामने ले जाओ या इसे ले जाकर हाथी के पाँव के नीचे कुचल दो ऐसे जादुई फितने को वतन में रहने की इजाजत नहीं इसे कल ले जाकर कत्ल कर दिया जाए बगैर किसी तखीर के आखिर यह फैसला लिया गया कि एलिजा को इस किले से दूर किसी जजीरे में खत्म कर दिया जाए वो काल कोठरी में अफसरदा थी एलिजा सोच रही थी कि वो इसकी आखिरी रात है तभी दरवाजा खुला और उसके सारे कोट और मोम उसके सामने फेंक दिए गए ये सुल्तान ने तुम्हारे लिए भेजे हैं इनसे तुम में जोश रहेगा अपनी जिम्मेदारी पूरी करने का ये मेरा आखिरी मौका है लेकिन मोम बनाने के लिए मुझे कुछ खारदार पत्ते चाहिए होंगे तभी उसने देखा खारदार पत्ते लिए काल कोठरी की खिड़की से चूहा अंदर आ रहा है उसने फिर से काम शुरू कर दिया चूहा संगीन आहता और काल कोठरी के बीच भागता रहा और खारदार पत्ते मौसूल कर एलिजा को देता रहा उसने आखिरी कोट भी बना लिया अब तक बाहर सुबह की किरणें झाँक चुकी थी वो एक बग्घी में बैठी और एक कोट को सिल रही थी बिना किसी रुकावट के सैकड़ों लोग जमा होकर उसे देखते रहे दस कोट उसके सामने पड़े थे बग्घी पानी के जहाज की जगह पहुंची जो एलिजा को दूर ले जाने वाला था तभी उसने अपने कुंबे की आवाजें सुनी एलिजा ने ऊपर देखा तो हंस उड़ते हुए उसके पास आ रहे थे और उसकी हिफाजत के लिए बग्घी को घेर कर बैठ गए एलिजा ने अब तक आखिरी कोट भी मुकम्मल कर लिया था उसने सारे कोट एक एक करके सारे हंसों पर फेंके और ग्यारह हंस खूबरू शहजादों में तब्दील हो गए ये हाँ। ये मेरी हमशीरा है ये मासूम और बेगुना है अब हम महफूज हैं ब्रादरान अब मैं बोल सकती हूँ मैं जादुई फितना नहीं हूँ मैं अपने भाइयों के तहफ़ की कोशिश कर रही थी जो एक साहिरा के शहर के शिकार थे शहजादी ने अपनी तमाम दास्तान सुल्तान से बयान की एलिजा के साथ जो बर्ताव हुआ उसके लिए सुल्तान शर्मिंदा था जो तुम्हारे साथ ज्यादती हुई इसके लिए मैं मजीद माफी मांगता हूँ क्या तुम मुझसे शादी करोगी देखो इनकार न करना हाँ। गले में हर एक फर्द ये खबर सुन के खुश था कि सुल्तान की शादी हो रही है इस आलिशान शादी में ग्यारह शहजादे भी शरीक रहे बाद में बादशाह को मालूम पड़ा कि सल्तनत की मलिका के शहर ने एलिजा और ग्यारह शहजादों पर कब्जा कर रखा था उसे तमाम उम्र कैद की सजा हुई इस तरह बादशाह एक सहरा के शहर से आजाद हुआ और वो सब साथ साथ खुशो खुर्रम रहने लगे